अब्दुल्ला अगले ही रोज अहमद साहब के छोटे से ऑफिस में बैठा था ऑफिस में दाखिल होते ही उसकी नजर मशहूर जमाना टीवी प्रोग्राम्स की सीरीज पर पड़ी जिसमें एक शोला बयां मुकर्र मुल्क अजीज के हर मसले का ताल्लुक अमेरिका और इसराइल की खुफिया साजिशों से जोड़ देते हैं मगर हल कुछ नहीं बताते अब्दुल्ला को ऐसे लोगों से शदीद चिड़ थी उसके अपने मसाइल ही इतने ज्यादा थे कि मजीद मसले सुनने के मोड में वो बिल्कुल ना था अब्दुल्ला ने जल्दी से एक तायराना नजर बुक शेल्फ में रखी हुई किताबों पर डाली उनमें से ज्यादातर वो पढ़ चुका था और गुफ्तगु शुरू होने से पहले वो अहमद साहब के अकलो शहूर की अकाउंटिंग कर चुका था अहमद साहब आराम से उसके फारिग होने का इंतजार करते रहे वो कोई चालीस के फेरे में होंगे दुबले पतले निकलता हुआ कद आंखों में बला की चलाकी मगर चेहरे पर दर्द अब्दुल्ला ज्यादा देर उनसे आंखें ना मिला सका अहमद साहब गोया हुए कैसे हैं आप डॉक्टर साहब जी ठीक होता तो यहाँ आता ही क्यों परेशान हूँ समझ नहीं आता जिंदगी में क्या करूँ इतना पढ़ा लिखा खूब जान मारी मगर नतीजा सिफर दिल का चैन पता नहीं कहाँ लुटा बैठा हूँ पता नहीं किस बात की जुस्तजू है कौन सी मंजिल है कि दिल खींचा जाता है मगर नजर नहीं आती कोई होक है कोई आस कोई तड़प कहीं ना कहीं कोई कमी है जो पूरी नहीं होती मैं एक ऐसा मरीज हूँ जिसे अपनी बीमारी का कोई पता नहीं अलामत का भी नहीं पता तो अब इलाज हो कैसे अब्दुल्ला बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया अहमद साहब की आंखों की चमक कई गुना बढ़ चुकी थी वो गोया हुए हम पहले कहा थे आप हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे अब्दुल्ला कुछ ना समझते हुए एक फीकी सी हंसी हंस के रह गया अहमद साहब ने अपनी बात जारी रखी डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए जजमेंटल होना तर्क कर दे अंदाजे बाद में लगाइएगा आप ऐसा करें हमारी एक वर्कशॉप हो रही है कल से अमीन साहब हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो पढ़ाएंगे ये आप कर लें अरे नहीं अहमद साहब मेरे पास दुनिया के बहत्तर सर्टिफिकेट्स हैं मैं हर उस बंदे से मिला हूँ या पढ़ चुका हूँ जिसकी किताबें आप यहाँ सजाए बैठी हैं मेरा मसला अब कोई नया कोर्स हल नहीं कर सकता इन्हीं कोर्सेस ने तो ये दिन दिखाया है मैं अपना रोना रो रहा हूँ और आप अपनी ट्रेनिंग बेचने के चक्कर में पड़े हैं डॉक्टर साहब आप ये वर्कशॉप कर लें फिर बात होगी अहमद साहब ने जैसे फैसला सुना दिया पता नहीं ये इंसाफ के लहजे का असर था या तबीयत का ठहराव कि अगली शाम जुमे के रोज़ अब्दुल्ला ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया कोई बीस के करीब मर्दो खातन वहां मौजूद थी और अहमद साहब जैसे एक और साहब जिन्हें सब अमीन भाई अमीन भाई कह रहे थे वो ट्रेनिंग शुरू करने के लिए बेताब अब्दुल्ला जिंदगी की इतनी बदतमीजियों के बाद किसी से तमीज से बात करने के मूड में नहीं था वैसे भी वो अपने आप को कोस रहा था कि यहाँ आया क्यों वही स्टीफन कुवे वही जैक वेल्शियम स्लीम पाल्टन बुफे और पैटन सिंह के फरमुदात वही बकवास होगी जिसमें अब्दुल्ला खुद चैंपियन था लोगों ने अपना तारुफ करवाया अब्दुल्ला इस पूरे अरसे में सर बेंच पर रखे सोता रहा उसे अब किसी की परवाह नहीं थी कोई क्या सोचेगा जब अपनी बारी आई तो सिर्फ नाम बता दिया और फिर कुर्सी पर ढेर हो गया सोते सोते या सोने की नाकाम कोशिश करते हुए अमीन भाई का एक जुमला कान में पड़ा अगर आप यहाँ बैठे बैठे मर जाएं, तो क्या आप अपनी जिंदगी को मोड़कर देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि हाँ लग गई या ये कहेंगे कि जाया हो गई या ये के पता नहीं क्या हुई और कहाँ गई हमें ना बताएं अपने आप से पूछ ली अब अब्दुल्ला ने आंख खोली मगर सर वैसे ही झुका रखा अच्छा दूसरा सवाल अमीर भाई ने अपने तर्किश से एक और तीर निकाला कुछ लोग आपके मरने के बाद आपके बारे में बात कर रहे हैं आप क्या समझते हैं वो क्या कहेंगी पता नहीं कौन था जो मर गया या अच्छा हुआ मर गया या अल्लाह का नेक बंदा था बड़े अच्छे काम कर गया है जो सालों जिंदा रहेंगे अब अब्दुल्ला संभल के बैठ चुका था उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी अमीन साहब ने एक तीर और निकाला और हाथ में मौजूद मार्कर की तरफ इशारा करते हुए पूछा ये क्या है करता क्या है सामीन में से किसी ने जवाब दिया जनाब मार्कल है लिखने के काम आता है बहुत खूब अब अपने आसपास देखें और चीजों की लिस्ट बनाएं। अब्दुल्ला का पेन तेजी से चलने लगा पंखा कुर्सी मेज चप्पल दरख्त खिड़की multimedia laptop speaker tube light jug glass marker घड़ी सोफा वाटर कूलर चले अब इन तमाम चीजों के सामने इनका पर्पस लिखें पंखा हवा देता है मार्कर लिखता है खड़ी वक्त बताती है वगैरह वगैरह ओ हम लिस्ट में एक नाम तो भूल ही गए जी हाँ आपका अपना नाम वो भी तो लिखें अब्दुल्ला लिस्ट में एक नए आइटम का इजाफा हो गया है जी अब इसके सामने इसका पर्पस भी लिख लें तो अब्दुल्ला हम हैं ही क्यों why do we exist Abdullah होंग बना बैठा रहा और सिर्फ उन्हें तके जा रहा था अमीन भाई ने अपनी बात जारी रखी एक सीधा सा जरिया है मलूम करने के लिए जिसने बनाया है उससे पूछ लो अब मार्कर बनाने वाली कंपनी ने मार्कर की तमाम स्पेसिफिकेशन बता दी हैं और एचपी वालों ने इस मेज पर रखे लैपटॉप की और डोनस ने इस एयर कंडीशन की तो आपकी समझ के हिसाब से जो भी आपका खालिक है आप उससे पूछ लें बहसीत मुसलमान हमारा मानना है कि अल्लाह सुबहान तला हमारे रब हैं वो कुरान में फरमाते हैं हमने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो हमारे जिंदगी का अवलीन मसरफ तो अल्लाह ताला की रजा हुई ना हमारी टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर तो अल्लाह ताला को राजी करना लिखा होना चाहिए ना हम डिज़ाइन ही अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हुए हैं मगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होता है सिवाय अल्लाह के अब्दुल्ला के दिल पर ये अल्फाज बिजली की तरह गिर रहे थे मगर अमीन भाई ने तो जैसे चुप ना होने की कसम खा रखी थी उन्होंने अपनी बात जारी रखी क्या ख्याल है आपका उस मार्कर के बारे में जो लिखता ना हो उस ग्लास के बारे में जो इसमें पानी डाला ना जा सके या उस एसी के बारे में जो ठंडी हवा ना दे सके उन तमाम चीजों ने अपने होने का हक अदा किया ही नहीं क्या ख्याल है आपका अपने बारे में ज़रा सोचिए ज़रा सोचिए अल्लाह तो हमारी टू डू लिस्ट में होता ही नहीं है हर वो अमल जो अल्लाह ताला से करीब ना करे या दूर ले जाए उसकी नाराजगी का सबब बने वो कभी नहीं करना चाहिए अब्दुल्ला की सबर का पैमाना अब लबरेज हो चुका था वो लजरते हाथों के साथ उठा और कांपती हुई आवाज में इंस्ट्रक्टर से मुखातिब हुआ उसकी आवाज सुनकर सब भी परेशान हो गए खुद इंस्ट्रक्टर बेचारा सोच में पड़ गया कि आखिर मैंने ऐसा कहा ही क्या है अब्दुल्ला गर्जा अमीन साहब खुदारा खामोश हो जाएं, बंद करें ये ड्रामा कहा मर गए थे आप आज से दस साल पहले पहले क्यों ना बताया किसी ने मुझे नहीं है जवाब आपके सवाल के मेरे पास होता तो यहाँ आता ही क्यों अगर आपको ये खुशफहमी है कि आप ये चंद घंटे मेरी जिंदगी के तैतीस साल खा जाएंगे तो मुंह बंद रखें वो तैतीस साल इसमें मेहनत भी पसीने और खून में फर्क ना कर सकी मेरी 200 आइटम्स पर मबनी टू डू लिस्ट मेरी तमाम तर कामयाबियां क्या सब एक लेक्चर से जाया करने का इरादा है एक लफ्ज अमीन साहब एक लफ्ज मुंह से और निकाला तो ये गुलदान आपके सर पर दे मारूंगा फाड़ में गए आप फाड़ में गई आपकी ट्रेनिंग फाड़ में गए शोक आंखों वाले आपके अहमद साहब मैं जा रहा हूं ये कहकर अब्दुल्ला ट्रेनिंग रूम से निकल के चला जाता है हाजरीन में से किसी की हिम्मत ना हुई कि वो कुछ बोल सके मगर अमीन साहब पीछे भागे और सड़ियों के पास अब्दुल्ला को जा लिया डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आप सुने तो सही अब्दुल्ला ने पीछे मुड़कर देखा तो अमीन भाई भागते हुए आ रहे थे करीब था कि अब्दुल्ला इन्हें दो चार थप्पड़ जड़ देता मगर वो आगे बढ़े और अब्दुल्ला को सीने से लगा लिया यकायक अब्दुल्ला को अपनी आंखें तर होती हुई महसूस हुई वो दिल में कह रहा था अमीन साहब हो सकता है कि आप ठीक ही कहते हो मगर मैं गलत हूँ ये कैसे मान लू मेरी हालत उस माँ की सी है जिसका जवान बेटा मर गया हो और वो लाश के सामने बैठी कह रही हो कि नहीं ये मरा थोड़ी है ये तो सो रहा है अब्दुल्ला को समझ ना आ रही थी कि अपने अरमानों की लाश को किधर दफनाएं, किधर इसकी तदफीन करें अब्दुल्ला ने अमीन भाई को खुदाफिज कहा और घर चला गया अभी वो बिल्लो को आज की रुदात सुना ही रहा था कि उसका बेटा अब्दुलरहमान आ गया और कहने लगा पापा हमें आज ग्रीन इन्वायरमेंट पर असाइनमेंट मिली है रिसाइकलिंग पर पोस्टर बनाना है मैंने सबसे पहले कचरे ट्रैश की तारीफ लिखी है कचरा हर उस चीज को कहती है जो अपना मकसद वजूद के काबिल ना रहे I think that can not fulfil its purpose any more ठीक है ना पापा बताए ना हाँ ठीक ही तो कह रहे हो बेटा आज की रात फिर रत जगा होगा अब्दुल्ला ने फिगी आंखों से बिल्लो को कहा जो मुस्कुरा के खामोश हो गई रात अब्दुल्ला फिर जाए नमाज पर था या अल्लाह तू चाहता ही नहीं है कि मैं सो सकूं रोज कोई नई परेशानी कोई जहनी अजियत तूने मेरे दिलो दिमाग को इतना हसास क्यों बनाया है ये अमीन भाई क्या कह रहे थे ये टू डू लिस्ट पहले किसी ने क्यों ना बताई तुझे राजी करना है मगर कैसे मैं क्या करूं कि तू राजी हो जाए मेरे अल्लाह अल्लाह मैं कचरा ही तो हूँ जो अपने मकसद हयात के काबिल ना रहा जिसने भुला दिया अपने मकसद को मुझे माफ़ी दे दे बेशक तेरा फजल वजह का मोहताज नहीं ऐसे ही बिला वजह बख्श दे कौन पूछेगा तुझसे या अल्लाह मैं कल वापस ट्रेनिंग में जाऊंगा सही बात समझा दे अब के चोट ना करना अमीन भाई पर रहम कर मेरी गुस्ताखियाँ माफ फरमा आज फिर से अपनी टू डू लिस्ट को रिस्टार्ट कर रहा हूँ इस बार पछतावे से बचा लेना इस बार कबूल कर लेना आमीन ता अब कासे दिल पेश कर दिया ता अब कासे दिल पेश कर दिया सुना है कोई सकावत में हद नहीं रखता अगले दिन सुबह अब्दुल्ला फिर ट्रेनिंग रूम में था रात वाले वाकये का असर सब लोगों के चेहरों पर था उसने बारी बारी सबके पास जाकर माफी मांगी थोड़ी ही देर में सेशन फिर से स्टार्ट हुआ अमीन भाई के लबो लहजे में बला की फरासत और चाबक दस्ती थी अब्दुल्ला सोच रहा था कि उन्होंने उस जैसे हजारों भुगताई होंगी हाँ तो हम कल रात बात कर रहे थे जिंदगी के मकसद की ये तो हम सबको वाजिया हो चुका है कि हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला को राजी करना है जब हम इस मसले को हल कर लेते हैं तो अगला सवाल आता है ख्वाब का विजन का हमें क्या करना चाहिए इस जिंदगी में बहुत से लोगों ने कई तरह से इसको बयान किया है जो तारीफ जो डेफिनेशन हमें पसंद आई है वो ये है कि विजन से मुराद मुस्तकबिल की वो तस्वीर है जो आप देखना चाहें the picture of future you want to see मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा तो हम अगर 10-20 सालों में उसे डॉक्टर या इंजीनियर के रूप में देख रहे होते हैं हमारी इस ख्वाहिश इस चाह का नाम विजन है मिसाल के तौर पर इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा तो कोई पाकिस्तान सचमुच में उनके ड्रीम्स में थोड़ा ही आया था बल्कि एक सोच थी मुसलमान किस तरह मिलजुल के एक आज़ाद रियासत में रहेंगे तो हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई विजन ज़रूर होना चाहिए अपने बारे में अपनी औलाद के बारे में माँ बाप के बारे में अपने इदारे के बारे में कोई ना कोई मंजिल तो हो कोई टारगेट ताकि आदमी फिर उस तक पहुंचने की जस्तजू करे और हाँ एक कोशिश ये भी करनी होगी कि विजन और पर्पस आपस में टकराए नहीं मिसाल के तौर पर पर्पस तो अल्लाह ताला को राजी करना है और हम शराब की दुकान खोल लें तो बात कुछ बनी नहीं पर्पस अल्लाह को राजी करना हो और विजन में हलालो हराम की तमीज के बगैर ही पैसा कमाना हो तो ये कोई अच्छी बात ना हुई अब्दुल्ला को ये सारी सीधी सादी बातें बगैर किसी मुफिकराना बहस के बड़ी अच्छी लग रही थी वो सोच रहा था कि यही हमारा असल मसला है हम बहसीत मुसलमान और पाकिस्तानी बड़ा सोचते हुए भी डरते हैं हमने तो ख्वाब देखना भी छोड़ दिए हैं जब मंजिल ही ना होगी तो सफर के सिमट में शुरू करेंगे और बिलफर्ज महाल मंजिल ना भी मिली तो इस सफर की वजह से अच्छे इंसान तो बन ही जाएंगे ये विजन दरअसल छोटे छोटे नन्हे नन्हे चराग हैं जो पूरे मुल्क में जल गए तो हर तरफ रोशनी हो जाएगी अगर सब लोगों तक अमीन भाई की ये ट्रेनिंग पहुंच जाए तो मुल्क बदल जाएगा मेरा भी एक विजन होना चाहिए और बाकी मानदा तमाम उम्र इसमें लगा दूंगा मैं भी बड़ा ख्वाब देखूंगा एक नई टू डू लिस्ट खुद ब खुद अब्दुल्ला के दिल में जन्म ले रही थी मैं लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाऊंगा ताकि मुल्क के लिए ज़रा मुबादला ला सके वगैरह वगैरह अब्दुल्ला अपनी दुनिया में ही मगन था और वक्फे का टाइम ख़त्म हो गया अमीन भाई ने मौजू बदला आप लोगों ने कभी पोनी की कहानी सुनी है सबका जवाब नफी में था तो भाई एक था पोनी एक छोटा सा कुत्ता उसे गांव देखने का बड़ा शौक होता है एक दिन दोस्तों से मशवरा करके वो गांव चला जाता है गांव में कुएं पर पानी पीने के लिए रुकता है मगर फिसल के गिर जाता है और डूब के मर जाता है अब गांव वाले मौलवी साहब के पास आते हैं और सारा माजरा कह सुनाते हैं कि पुनी गिर गया है कुएं में और पानी नापाक हो गया है मौलवी साहब कहते हैं कोई बात नहीं चालीस बाल्टी पानी निकाल लो पानी पाक हो जाएगा लोग वापस आ जाते हैं चालीस बाल्टी पानी निकालते हैं मगर बदबू अभी भी बाकी है मौलवी साहब चालीस बाल्टी और निकालने का कह देते हैं लोग फिर वापस आ जाते हैं मौलवी साहब कहते हैं भाई आप लोग बड़े शक्की मिजाज हो चालीस और निकाल दो मगर लोग फिर वापस आके जाते हैं चालीस 120 बाल्टियां निकाल चुके हैं पानी चू का तू है अब मौलवी साहब की बर्दाश्त से बाहर हो गया है वो एक चम्बे गफीर के साथ कुएं पर पहुंच गए झांक के देखा तो पोनी की लाश पानी में तैर रही थी भाई इसको क्यों नहीं निकाला मौलवी साहब ने गांव वालों से ताज्जुब से पूछा आपने पोनी निकालने का कब कहा था गांव वालों ने इस्तफसार किया अमीन भाई ने अपनी बात जारी रखी तो आप बताएं अगर हम कुआं खाली कर दें और पोनी ना निकालें तो क्या कुआं पाक हो जाएगा अब्दुल्ला ने हंसते हुए नफी में जवाब दिया बिल्कुल इस तरह हमारा माशरा हमारे लोग हमारे दोस्त हमारे एहबाब हमारे कोलीग्स हज़ारों की तादाद में पोनी हमारे दिमाग में भर देती हैं फिर इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या पढ़ते हैं कहाँ से तजर्बा लेते हैं क्या तालीम हासिल करते हैं नतीजा वही सिफर जब हम विजन की बात करते हैं तो कई एक पोनी हमारे विजन के साथ चिपक जाते हैं और हमारे ख्वाबों को गंदे पानी के कुएं से बाहर नहीं आने देते ये कहकर सब लोग लंच के वक्फे पर चले गए मगर अब्दुल्ला भारी दिल के साथ अपनी जिंदगी की पोनी गिनता रहा इसकी गुजश्ता टू डू लिस्ट में मौजूद हर चीज़ उसे एक पोनी ही नजर आई वो खामोश बैठा आसमान को तकता रहा आंसू टप टप करके यके बाद दीकर आंखों से गिरते रहे अमीन भाई ने सेशन को फिर से शुरू किया चार पोनी हैं जो सबसे पहले विजन पर असर अंदाज होती हैं नंबर वन जिंदगी लाइफ नंबर टू खानदान फैमिली नंबर थ्री वक्त टाइम नंबर फोर जगह स्पेस हम कोई विजन सोच लें वो हमारी अपनी ज़िंदगी खानदान और जगह के इर्द गिर्द घूमता है हम इसे किसी ना किसी तरह वक्त के साथ भी कैद कर देती हैं मसलन मैं चाहता हूँ मैं कराची का सबसे बड़ा ताजिर बनूं। अब बजाते खुद इस विजन में कोई बुराई नहीं मगर ये कराची की हदूद में कैद है मसलन मैं चाहता हूँ अपने बीवी बच्चों को तमाम खुशियां दूं। इसमें भी कोई बुराई कोई मुजायका नहीं मगर ये अपने खानदान से बाहर नहीं आ रहा अगर बड़ा काम करना हो तो इन चारों से बाहर निकलकर सोचना होगा मिसाल के तौर पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन था कि लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है उन चारों से आज़ाद था उन्होंने अपने खानदान वालों पर भी काम किया और गैर खानदान वालों पर भी मक्का में भी काम किया और दुनिया भर में भी साबा कराम रजी अल्लाह ताला पर को भी ये काम उनकी जिंदगी के बाद भी 1400 साल तक चलता रहा इस जैसी मिसालें और हवालों से आज का दिन खत्म हुआ अब्दुल्ला आज फिर जाए नमाज पर अपने अल्लाह साइन से दुआ मांग रहा था अपनी रहमत के खजानों से अता कर मालिक अपनी रहमत के खजानों से अता कर मालिक ख्वाब औकात में रहकर नहीं देखे जाते अल्लाह सही आपस की बात है अब तक की जिंदगी तो जाया हुई आगे की किसी काम लग जावे तो यही बड़ी बात है आज तक सिर्फ और सिर्फ अपनी जात का सोचा कोई काम करना चाहता हूँ जो लोगों को फायदा पहुंचाए उम्र भर नफा खोर रहा अब नफा बख्श बनना चाहता हूँ अमीन भाई कहते हैं कि विजन चाह का नाम है पेशन गोई नहीं मेरी चाह है कि ऐसे लोग तैयार करूं जिन्हें कंप्यूटर साइंस में महारत हो ताकि वो अपने प्रोग्राम्स के जरिए इंसानियत की खिदमत कर सकें मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ा इदारा बनाऊं उस काम के लिए ना अकल है ना पैसा ना तजर्बा तू मदद कर ए मेरे मालिक तू मेरी मदद कर तेरे लिए क्या मुश्किल तुझे कोई असम्बली से बिल थोड़ा ही पास करवाना होता है मेरी मदद कर मेरे मालिक मेरा हाथ पकड़ और देख प्लीज इस बार सही लाइन पर चला दे आमीन आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन था और अमीन भाई का जोश खताबत अरूज पर उन्होंने ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया आदमी जिंदगी में मुख्तलिफ करदार निभाता है जिन्हें हम रोल्स कह लेते हैं इसकी दो अकसाम हैं नंबर वन लाजमी या मैंडेटरी रोल्स नंबर टू इख्तियारी या इलेक्टिव रोल्स लाजमी करदार वो हैं जो आप चाहते हुए भी ना छोड़ सकें मसलन बाप का रोल अब आप अपने बेटे से जाकर अगर कहें कि आज के बाद तुम मेरे बेटी नहीं तो आपके सिर्फ कहने से कुछ भी ना होगा रिश्ते जो कि तू कायम रहेंगे इत्यादि वो रोल्स जो आपकी जवाबदीद पर हों मसलन दोस्त आप जब चाहें जिसे चाहें दोस्त बदल सकते हैं मसलन जॉब आप चाहें तो इस्तीफा दे दें और किसी और जगह नौकरी कर लें तो आप सब लोग अपने तमाम रोल्स की एक फहरिस्त बनाएं अब्दुल्ला ने कलम निकाला और कुछ ऐसी ही फरिस्त तैयार कर ले लाजमी करदार बाप बेटा भाई अपनी ज़ात तमाद कफील उमती अब्दुल्ला इलेक्टिव या इख्तियारी रोल्स नौकर दोस्त उस्ताद शगिर्द खिलाड़ी तैराक शोहर मोहल्ला कमेटी मस्जिद कमेटी लाइब्रेरी मेंबर वगैरह वगैरह अमीन भाई फिर गोया हुए तकरीबन वो तमाम काम जो अब 24 घंटों में किसी ना किसी रोल्स के तहत करती हैं वो यहाँ आएंगी अब लाजमी करदारों को तो आप कुछ कह नहीं सकते तो इख्तियारी रोल्स में से हर वो रोल जो आपके विजन का हिस्सा नहीं या उसे किसी ना किसी तौर पर सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप उसे उड़ा दें हर जंग लड़ने वाली नहीं होती मसलन अगर कोई विजन शायद अफरीदी बनने का दिखता है तो उसे चार घंटे रोज गाना गाने की क्या जरूरत है वो क्रिकेट खेले आप खुद ही मनसफ बन जाएं। अपने इख्तियारी रोज और अपने विजन के बीच इस तरह करने से आपकी जिंदगी में फोकस यकसानियत भी आएगी और वक्त भी बचेगा वक्फे में अब्दुल्ला मालूम के इस तूफान को डाइसेक्ट कर रहा था ठीक ही तो कहती हैं इतनी सी जिंदगी में क्या क्या करूं बेवाओं को खिदमत करूं यतीमों का ख्याल रखूं किताबें लिखूं पढ़ाऊं कंपनी खोलूं एदी के लिए एम्बुलेंस चलाऊं पढ़ाऊं या मुल्की सियासत में हिस्सा लूं अब्दुल्ला ने कागज पर लिखना शुरू कर दिया पाकिस्तान में मर्द की औसत उम्र बासठ साल और औरत की पैंसठ साल अब ये कहते हैं कि उम्र पड़ी है वो है कहाँ शुरू के बारह साल तो बचपने की नजर हो जाते हैं अब अगर कोई सत्तर साल भी जिए तो बाकी छप्पन बच्चे हैं हम कम से कम आठ घंटे सोते हैं चौबीस घंटों में से एक तहाई बनता है तो कोई तेईस साल चार माह हम सो रहे होते हैं आठ ही घंटे कम से कम ऑफिस जाते हैं हर रोज तेईस साल चार माह वहां गए पाकिस्तानी औसतन चार घंटे टीवी देखते हैं ये कोई साढ़े ग्यारह साल बनते हैं चार घंटे हम औसतन इंटरनेट को देते हैं साढ़े ग्यारह साल इधर गए एक साल में हम अपने तबी जरूरियात के तहत बाथरूम में गुजारते हैं बारह साल की उम्र में अगर नमाज फर्ज हो और अगर हम पांच वक्त रोजाना नमाज पढ़े और दिन में एक घंटा भी लगा दे तो सत्तर साल की उम्र में कोई ढाई साल अल्लाह को देंगे जिसने पैदा किया अपनी इबादत के लिए छह लाख तेरह हजार घंटों की जिंदगी में से सिर्फ बीस हजार घंटे कोई बात नहीं बनी पूरी जिंदगी जब तक इबादत के मफहम के तहत नहीं आ जाती तब तक तो हक अदा ही ना हो सका क्या आप कोई ऐसा नौकर रखेंगे जो अपने असल काम को सिर्फ तीन इशारिया पांच फीसद वक्त दे और बाकी बेकार बैठा रहे और ये तीन इशारिया पाँच फीसद वक्त भी हम कब देते हैं महीनों गुजर जाते हैं मस्जिद का मुंह देखे हुए जितनी तेजी से अब्दुल्ला का कलम चल रहा था उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से उसका दिमाग और दिल ठीक है अमीन भाई आज फिर रत जगा और इलेक्ट्रिक्स का इंतखब होगा वक्फे से आते ही अमीन भाई ने एक और कारीवार किया आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आती होगी तो एक बार चार्ट बनाएं और नीचे लिख दें तमाम रोल्स जो बाकी बच गए हैं बाप बेटा उम्मती अब्दुल्ला पड़ोसी हमें इन तमाम रोल्स को किसी ना किसी तरह कम अज कम मैार पर निभाना होगा जैसे कि स्कूल में तैतीस फीसद नंबरों पर पास होता है और यूनिवर्सिटी में दो इशारिया दो जी पर इसी तरह हर रोल का एक मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल होता है अगर इससे नीचे आए तो जुल्म में शुमार होगा ऊपर गए तो एहसान में जुल्म का मतलब है किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना मसलन माँ बाप के लिए मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल है कि उन्हें उफ भी ना की जाए अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि बार चार्ट में आप कहाँ हैं एहसान का मतलब है हर वो चीज़ जो मौजूदा रिसोर्सेज में उससे बेहतर मुमकिन ना हो गर्ज आपकी सबसे बेहतर काविश किसी आदमी के पास दस रुपए हैं और वो दस रुपए सदका कर देता है तो उस आदमी से बेहतर होगा जो लाख रुपए दे दस करोड़ में से अब आपको तमाम रोल्स के मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल मालूम करने हैं और इन मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल्स को पूरा करते हुए मर गए तो कामयाब वरना नाकाम इसके बाद अमीन भाई ने मौलाना तकी उस्मानी साहब का शेर भी कह सुनाया कदम हो राय उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी कदम हो राय उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी यहाँ तो एन मंजिल है थकन से चूर हो जाना अमीन भाई ने ट्रेनिंग एंड की तो आप लोग घर जाएं, रोल्स लिखें मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल ढूंढें और विजन बनाएं कि 100 साल बाद आप अपने आप को किस रोल में किस जगह देखना चाहते हैं ऐसा ना हो कि अपनी जात के रोल में तो आप बिजनेसमैन बन जाएं। मगर बाप भाई अब्दुल्ला के सारे रोल्स मुतासिर हो जाएं। फिर सोचे कि पचास साल वाला विजन क्या होगा पच्चीस में कहाँ होंगे और एक पांच और दस साल का प्लान बना लें हती कि महीनों हफ्तों और दिनों की कोशिश करें ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके सो साल वाले विजन से कनेक्ट हो सके इस ट्रेनिंग से अब्दुल्ला को अपने बहुत से सवाल के जवाब मिल गए वो किसी हद तक मुतमिन था कि चलो जिंदा रहने का कोई बहाना तो मिला कोई रास्ता तो नजर आया मेरा कोई मकसद हयात तो है जिंदगी के अंधेरे में ये छोटी सी किरण अब्दुल्ला के लिए डूबते का सहारा थी आज रात इसने अहमद साहब को फोन करके शुक्रिया अदा किया कहा कि वो इनकी बाकी ट्रेनिंग भी करना चाहता है मगर फिलहाल पैसे नहीं हैं अहमद साहब ने ऑफर दी कि आप कोर्सेज कर लें पैसे जब हों तब दे देना यूं अब्दुल्ला की जिंदगी में एक बाब और शुरू हुआ ट्रेनिंग और विजन का